बाब नंबर चार कल स्कूल से बड़ी देर करके आए सकीना ने पूछा हाँ एजाज ने जवाब दिया वो लहजे भर को रुक कर सोचता रहा कि बता दे या ना बताए फिर बोला काम आ गया था छुट्टी नहीं ली चाचे अहमद ने पूछा नहीं सरफराज कहता है उसने कल तुम्हें स्कूल में नहीं देखा सकीना ने कहा क्लासें नहीं ली दफ्तर का काम करता रहा था आज जल्दी आ जाना सकीना बोली वो चारपाई पे बैठी एक बच्चे को छाती से दूध पिला रही थी दाई उसके पास दूसरे बच्चे को गोद में लिए बैठी थी जो वक्फे वक्फे पर नन्ही सी आवाज़ से रोता जा रहा था अल्लाह का शुक्र है दाई बच्चे को हिलकोरे देती हुई बोली तेरा दूध वाफिर है मेरा आखिरी जोड़ा खरबों के घर में हुआ है बारह तेरह साल की बात है फसादों का ज़माना था मासी परवीन के घर सकीना ने पूछा हाँ तुझे नहीं पता ना उसका रियाज जोड़ा था और क्या परवीन का दूध नहीं था बेचारी निचोड़ निचोड़ कर हिलाक हो जाती तो रियाज का पेट मुश्किल से भरता था दूसरे को बकरी पर लगा दिया दो दिन तक ठीक रहा फिर उसे टटियाँ लग गईं हकीमों का इलाज किया आखिर में शहर के डॉक्टर के पास ले गए मगर जिसकी आई हो उसे कौन बचा सकता है दिनों के अंदर अल्लाह को प्यारा हो गया तेरे ऊपर अल्लाह का फजल है कोई फिक्र फाका नहीं हमारे घर पर अल्लाह का फजल है राबिया मासी हांडी चढ़ाते हुए बोली मेरा दूध पानी की तरह बहता है छोटे इतना पी जाते कि उल्टियाँ करने लगते हैं फिर भी मेरा कुर्ता गीला ही रहता है हाथ हाथ जितने बड़े चटाक पड़ जाते हैं धोते धोते मेरी दाई के मोंडे दुखने लगते हैं हंस कर कहती थी चुदरानी तेरे आगे तो नहर के महकमे वालों को बंद बांधना पड़ेगा इसकी हड्डियों को ना देख राबिया चाचा अहमद हुक्के की नड़ी मुंह से अलग करके बोला इसका मांस बड़ा लायक है दाई राबिया कहकहा लगाकर हंसी मासी के चेहरे पर रंग की एक लहर दौड़ गई उसने तेज़ी से हांडी में डोई हिलानी शुरू कर दी मैं फिर चला जाज चाचे अहमद ने कहा बस चाचा बस रोटी के टुकड़े के लिए बैठा हूँ खाकर निकल जाऊँगा तेरी मासी को पीछे छोड़ के जा रहा हूँ एक दिन और रुक जा चाचा ब्याई में अभी दिन पड़े हैं डंगरों का रोज़ का काम है जाज माछियों के हवाले करके आया हूँ कुत्ती के बच्चे मेरे आधे पट्ठे अपने डंगरों के आगे डाल देते हैं एक दिन रह कर जाता हूँ तो मरला ज़मीन का नंगा पड़ा होता है अच्छा फिर चाचा जाज ने उठते हुए कहा एक ज़माना था चाचा अहमद उसी रो में हुक्का गुड़गुड़ा कर बोला लोग अपना माल दूसरों के हवाले करके हज पर चले जाया करते थे अब वो इतबार का ज़माना गया जल्दी आ जाना सकीना ने दोहरा कर कहा अच्छा एजाज ने कहा और घर से निकल गया उसके पाँव इस तरह उठ रहे थे जैसे उसके अपने इरादे से कतई आज़ाद हों यूं जाहिर होता था जैसे उसके बदन को अपने तौर पर यह इल्म हो गया है कि एक नुकसान की तलाफी के लिए दूसरे खजाने की तलाश अहम हो गई थी मलकों के भट्टे पर इरशाद और कनीज़ का घरौंदा खाली पड़ा था दरवाजे पर जो टाट लटका होता था वो एक ढेर की शक्ल में दहलीज पे पड़ा था मज़दूरों के बाकी कुनबे सब के सब ईंटें बनाने के काम में मसरूफ़ थे मर्द गीली मट्टी का गारा तैयार कर रहे थे पथीरों में ज़्यादातर औरतें और पाँच साल से ऊपर के बच्चे मट्टी को सांचों में भर भर के कच्ची ईंटें निकालते और उन्हें सूखने को धूप में कितारों कितार रखे जाते थे एजाज एक कुनबे के पास जा खड़ा हुआ उसने महसूस किया कि मज़दूर उसके साथ बात करने से कतरा रहे थे औरतों ने मुंह फेर लिए थे सिर्फ बच्चे मुंह उठाकर उसे देख रहे थे चल लोए सुअर के तुखम एक औरत अपने बच्चे से चिल्लाकर बोली ईंट उठा ईंट छितर खाएगा मेरे से चल चल चल सात साल स्या रंग का नंगा बच्चा उसी तरह खड़ा एजाज को देखता रहा जी सोन भादो अभी गुजर के गया है मर्द गीली मट्टी को पैर से हिलाते हुए बोला अब काम का जोर आपड़ा है सारा सारा दिन लगाएं तो फिर भी खेपी पूरी नहीं होती एजाज ने सर हिलाकर उसके साथ इतफाक किया और मोहतात लहजे में पूछा इरशाद कहाँ है मर्द और औरत चंद लहजों तक एक दूसरे का मुंह देखते रहे गोया मखमसे में पड़ गए हूँ फिर औरत ने तासुब से सर हिलाया और खामोशी से अपने काम की जानब मुंह फेर लिया मर्द ने इधर उधर देखा और नीची आवाज़ में बोला सिपाही आया था उसके साथ थाने चले गए हैं एजाज ने परेशानी से चारों तरफ देखा उसने भट्टे का एक चक्कर लगाया मगर मलकों का कोई आदमी उसे नजर न आया वापसी पर वो एक दरख्त के नीचे कुछ देर रुककर सोचता रहा फिर वहां से निकलकर नूरपुर की सड़क पे हो लिया थाने के सामने दरख्तों की छाव में किसानों की मुख्तलिफ टोलियाँ बैठी थीं सफ़ेद कुर्ता सफ़ेद तहमद और सफ़ेद ही रंग की बड़ी सी ढीली बलदार पगड़ी उस इलाके के किसानों का थाने कचहरी में पेश होने का लिबास था धुले हुए सफ़ेद कपड़ों और धूप में जले हुए स्याह और ताने की रंगत वाले शिकनदार चेहरों के छोटे छोटे झुरमट जगह जगह नज़र आ रहे थे इरशाद और कनीज़ को पहचानना मुश्किल ना था उनके कपड़े मैले मैले रंगों के और सर नंगे थे वो किसानों की टोलियों से ज़रा हट कर बैठे थे इरशाद कनीज़ और बच्चा ज़मीन पर टांगे चोड़ी किए बैठे थे उनके साथ एक चौथा आदमी लिबास बचाकर पाँव के बल बैठा था सड़क से थाने की पुरानी इमारत की ड्योड़ी नजर आती थी और उसी सीध में पिछले बरामदे के अंदर मुहर्र की मेज़ लगी थी मुहर्र के सामने कुर्सी पर मलकों का छोटा बेटा रशीद बैठा था जो स्कूल में एजाज का हम जमात रहा था एजाज थाने के अहाते से गुजर कर ड्योड़ी में दाखिल हो गया इरशाद कनीज़ और उनके साथी की नज़रों ने सड़क से ड्योड़ी तक उसका ताकुब किया ड्योड़ी से निकलकर एजाज ने थाने का सहन पार किया और मुहर्र की मेज तक जा पहुंचा। आ एजाज रशीद ने उठकर तपाक से मुसाफा किया कैसे हालचाल हैं कभी मुलाकात ही नहीं हुई खैर खैरियत है रशीद तुम अपनी सुनाओ अल्लाह तला का करम है क्या कुछ होता रहता है स्कूल कैसा चल रहा है बस चल ही रहा है एजाज ने हंसकर जवाब दिया बैठो एजाज रशीद ने दूसरी कुर्सी की जानब इशारा करके कहा यहाँ कैसे आ निकले इधर से गुजर रहा था तुझे देखकर चला आया सोचा मुद्दत से मुलाकात नहीं हुई शाहजी यह मलिक अवान है रशीद ने तारफन कहा शुजाबाद का स्कूल इन्हीं के सर पर चलता है इमदाद अली शाह थाना मुहर्र ने सर उठा कर देखा और जवाब दिए बगैर उसी तरह माथे पे घूरी रखे चेहरा झुकाकर लिखना शुरू कर दिया जैसे कि वो इस दुनिया के मलकों स्कूल मास्टरों और दूसरे मुतशाबा लोगों से मिल मिलकर ज़िंदगी से तंग आ चुका हो तुम यहाँ कैसे बैठे हो एजाज ने पूछा भट्टे का एक मामला था निपट गया है शाहजी हमारे मेहरबान हैं वो दोनों बैठे बातें कर रहे थे कि इरशाद और कनीज़ उनके करीब से गुजर कर एएसपी के कमरे में दाखिल हुए गुजरते गुजरते इरशाद ने हाथ उठाकर एजाज को सलाम किया एजाज सरसरी जवाब देकर रशीद से बातें करने लगा दूर से किसी ने मुहर्र इमदाद अली शाह को सलाम किया इमदाद अली शाह ने मुंह उठाकर उससे कहा कि वो अपने सलाम को ले जाकर अपनी माँ की टांगों में घुसेड़ दे और थाने से निकल जाए वरना हवालात में बंद कर दिया जाएगा एजाज का एक कान मुहर्र की जानब था और दूसरे से वो रशीद की बात सुन रहा था कि अचानक थानेदार के कमरे से औरत की आवाज़ बुलंद होने लगी वह ऊंचे लहजे में कुछ कहे जा रही थी मुहर्र ने रशीद की जानब देखकर जेर लब औरत को गाली दी फिर अंदर थानेदार की सख्त आवाज़ उठी एजाज कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ उसने रशीद से अलविदाई मुसाफा किया और बाहर जाने को मुड़ने ही वाला था कि थानेदार के कमरे की चिक उठी और अंदर से बिशप जॉन और कर्नल जोसेफ बरामद हुए एजाज उन्हें देखकर हैरान रह गया वो उन दोनों को पहचानता था बिशप जॉन तो उनके गांव में ईसाइयों की खबर को आता रहता था कर्नल जोसेफ पुराना नूरपुर का रहने वाला फौज का रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल था बिशिप जॉन भारी भरकम जिसम और मतीन चेहरे वाला पचपन के लगभग का आदमी था जिसके घने बाल ये दोहरा तासुर देते थे कि बीस साल की उम्र में सफ़ेद हो चुके थे और मज़ीद ये कि उस उम्र से लेकर आज तक एक बाल भी जड़ से ज़ाया नहीं हुआ था उसके मुकाबले में कर्नल जोसेफ मुख्तलिफ़ किस्म का आदमी था उसका परदादा अंग्रेज़ों के ज़माने में इलाके भर का आर्च बिशप था दादा रेलवे के वर्कशॉपों में काम करते करते एग्जेक्टिव इंजीनियर के अहदे से रिटायर हुआ था बाप ने गो कुछ तालीम हासिल की थी मगर आर्च बिशप को मिले हुए दो मुरबा अराजी पर संतरों माल्टों और लीमू का बाग लगवाकर उसने गांव में रिहाइश इख्तियार कर ली थी अपने बेटे जोसेफ को उसने सीनियर कैमरेज करवा कर फ़ौज में भर्ती करा दिया था जहाँ से वो दस साल पहले रिटायर्ड हो चुका था कर्नल जोसेफ एक खूबसूरत आदमी था उसकी माँ एंग्लो इंडियन थी निखरे हुए गंदमी रंग और चरीरे बदन का वो साठ साल आदमी पचास से भी कम उम्र का लगता था उसके सर के बाल आधे स्याह आधे सफ़ेद थे और सुर्ख गालों वाले चेहरे पे बाईसाइकिल के हैंडल की सी सफ़ेद मूछे थीं गो वह अपनी ज़िंदगी गांव में गुजारता था मगर किसी ने उसे देहाती लिबास में ना देखा था वो हमेशा बूशर्ट और पैंट या घुड़जवारी की बर्जिश में मलबूस होता और हाथ में डेढ़ फुट लंबी पॉलिश शुदा बाँस की गांठों वाली छड़ी रखता था उसकी बीवी मोटी सी भद्दी एंग्लो इंडियन औरत थी जो नौकरों को डंडों से पीट कर सज़ाएं दिया करती थी उनकी एक ही बेटी थी जो शादी होकर अपने खाविंद के साथ इंग्लिस्तान जा बसी थी कर्नल जोसेफ का लगाया हुआ बाग इलाके में खट्टे पल का सबसे बड़ा बाग था अब वो बाग के वस्त में इमारत तामीर करा रहा था जिसके अंदर मशीनरी लगवाकर उसका इरादा शरबत और अचार मुरबे बनाने का था गांव के बाहर कर्नल जोसेफ की बड़ी सी पुरानी कोठी थी जो भट्टे के ईसाइयों के अलावा सारे इलाके की ईसाई बरदरी का मरकज़ थी जहां कर्नल जोसेफ का लफ्ज़ कानून का दर्जा रखता था बिशप जॉन और कर्नल जोसेफ आपस में आहिस्ता आहिस्ता बातें करते हुए कमरे से बाहर आकर एक लम्हे को रुके फिर साथ साथ चल पड़े कमरे के अंदर औरत की गुसीली आवाज़ उठती जा रही थी कि अचानक थानेदार की कड़कती हुई आवाज़ ने उसे दबा दिया एक सेकंड की खामोशी के बाद औरत के रोने की आवाज़ आने लगी साथ ही इरशाद चिक उठाकर बाहर निकल आया चिक के पीछे एजाज को कनीज का हियोला नजर आया तो वह जल्दी से मुड़ा और बाहर को चल दिया पुष्ट पे उसने कनीज की बुलंद आवाज़ सुनी जो अब बरामदे में निकल आई थी उसने दिल पे जबर करके अपने आप को पीछे मुड़कर देखने से रोका ड्योड़ी पार करके उसने थाने के अहाते में कदम रखा और बाएं को होकर रुक गया एक मिनट के बाद बिशप जॉन और कर्नल जोसेफ बाहर आए कनीज दुहाई देती हुई उनके ताकुब में लगी अल्लाह जुल्म करने वालों को बदला देगा वो पुकारी इरशाद ने अकब से पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की तो कनीज ने पलटकर एक दोतड़ उसकी छाती पे रसीद कर दिया जिससे वो लड़खड़ा गया चल बेईमान कुत्ते वो चिल्लाकर बोली अहाते में बैठे हुए किसानों की टोलियों के सर बिशिप कर्नल और कनीज की जाने मुड़े उन चारों के पीछे पीछे मलक रशीद चला आ रहा था कनीज लपक कर आगे बढ़ी और बिशिप के सफ़ेद कोट पर हाथ रखकर बोली बिशिप जी आपने देखा आपने अपनी आंखों से देखा बिशप एकदम रुक कर यूं पीछे हटा जैसे उसको अपना कोट मैला होने का अंदेशा हो उसने तसल्ली के अंदाज में हाथ उठाकर कुछ कहा फिर रुख बदला और कनीज से बचकर निकलना चाहा। कनीज ने कर्नल जोसेफ का बाजू पकड़ लिया कर्नल जोसेफ ने आहिस्तगी से अपनी छड़ी उसके बाजू पर रखी और नरमी से दबाई कनीज़ ने हाथ उठा लिया कर्नल जोसेफ साहब आपने देखा कनीज़ उसके आगे आगे चलती हुई बोली आपकी आंखों के सामने सामने क्या होगा वुमन कर्नल ने अपनी अंग्रेज़ी लहजे में पूछा आपके सामने थानेदार ने मेरे नाले पर हार डाला कि नहीं बिशप जान के चेहरे पे नागवारी के आसार पैदा हुए देखो वुमेन कर्नल बोला मामला सब ठीक हो गया है अब बूम मत मारो सब ठीक है अब जाओ ओके एजाज दिल में हंसा उसे अच्छी तरह इल्म था कि कर्नल जोसेफ ठेठ जबान बोल सकता था मगर उसने अपना लहजा ना छोड़ा था कनीज़ को उसका दूसरा साथी बाजू से पकड़कर परे ले गया बिशप जॉन की पुरानी सी ऑस्टन गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी थी वो कर्नल जोसेफ और रशीद से हाथ मिलाकर चला गया कर्नल की पुरानी लैंड रोवर जीप दूसरी जानब खड़ी थी जब वो और रशीद जीप की जानब जाते हुए एजाज के करीब से गुजरे तो एजाज अपने साथ खड़े एक किसान की तरफ इशारा करके खड़ा हो गया गोया उससे मुखातिब हो रशीद कर्नल जोसेफ से कह रहा था पचास हज़ार ईंट कल पहुंच जाएगी कर्नल साहब कोठी पर नहीं मांगता कर्नल जोसेफ बोला बाग के अंदर डिलीवरी मांगता है बिल्कुल जिधर आप कहेगा उधर लोड उतरेगा कर्नल साहब और एक नंबर पक्की चाहिए ठोक बजा कर देगा दो नंबर की एक ईंट भी नहीं लेगा थैंक यू कर्नल साहब सर कर्नल की जीप के पास ही रशीद की मोटरसाइकिल खड़ी थी दोनों अपनी अपनी सवारी पर चढ़कर नूरपुर को रवाना हो गए एजाज को दिल में कुछ हैरत हुई कि रशीद को पिछले रोज़ भट्टे पर एजाज की मौजूदगी का इल्म नहीं हुआ वो अहाते से गुजरकर इरशाद और कनीस के पास पहुंचा, जो अब थकी थकी चाल से सड़क के किनारे तक जा चुके थे कनीज उस तीसरे आदमी से बातें कर रही थी एजाज को देखकर रुक गई मलक जी तुमने देखा इस बेगैरत का कसब पैसे लेकर बैठ गया है अल्लाह की बंदी इरशाद ने उसका बाजू पकड़कर बात करने की कोशिश की कनीज ने उसे पूरे जोर से धक्का देकर गिरा दिया दफा हो सुअर के तुखम उसने बच्चे को उठा लिया छः साल का बच्चा उसके कूले पे जमा एजाज को अजीब सा लगा चल छोड़ इसका पीछा उसके साथी ने हाथ से पकड़कर कनीज को एक तरफ किया जो होना था हो गया हो क्या गया इस बेगैरत के सामने थानेदार ने मेरे नाले पर हाथ डाला ये मुंह नीचा करके बैठा रहा चल अब छोड़ इस किस्से को कनीज़ एजाज से मुखातिब हुई मैंने इस थोड़े दिले के साथ नहीं रहना मेरी जान निकाल दो मलिक जी इसके साथ नहीं रहूँगी एजाज का दिल लम्हाती तौर पर उछला साथ ही उसकी नज़र उस दूसरे आदमी पर पड़ी जो आंखों में चमक और चेहरे पर अतमाद लिए कनीज़ के बहुत करीब अपना हाथ उसके कंधे पर रखे खड़ा था बेवकूफ़ी मत कर एजाज बेख्तियार होकर बोला चल झगड़ा ख़त्म हो गया है और तुझे क्या चाहिए मुझको बड़ा कुछ चाहिए मलिक जी कनीज़ बोली मेरी बात पर मट्टी ना डालो मेरा ना इससे कोई वास्ता ना इसकी पेशगी से मैं सारी दुनिया की नौकर हूँ पर किसी की गुलाम नहीं हूँ मुझसे कहते हो इस दिले के साथ जाऊँ जो दिन की गुलामी करवाता है और रात को धोती उठाकर मेरे ऊपर सवार हो जाता है मेरे बच्चे से इसका कोई वास्ता नहीं आपके बर्तन मांझ लूँगी मगर इसको स्कूल भेजूंगी किसी की गुलामी में नहीं दूंगी कनीज़ दूसरा आदमी बोला इस बात को कल पर छोड़ दे अब घर चली जा तू भी कनीज़ भड़क कर बोली उस आदमी ने नरम लहजे में कनीज़ की बात काट दी देख मेरी बात मान हौसला कर दिल को आराम दे बड़ा वक्त पड़ा है जा उसने हाथ किए हल्के से दबाव से कनीज़ को सड़क की जानी बढ़ाया कनीज़ उसके चेहरे पर मलामत भरी टिकटिकी बांधे टेढ़े टेढ़े कदम रखती हुई अपने रास्ते पर चल पड़ी उसके पीछे पीछे अपनी पसली पे हाथ रखे इरशाद भी चल दिया आपका इसमें शरीफ उस आदमी ने एजाज से पूछा मोहम्मद एजाज मेरा नाम बशीर अहमद है वो मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाकर बोला एजाज ने उससे हाथ मिलाया कनीज़ ने मुझे आपके बारे में बताया है आपने उनकी बड़ी मदद की दवा दारू करा दिया उन लोगों को कौन पूछता है ना उनका घर ना घाट ना कोई ठिकाना दो गठड़ियाँ उठाकर एक भट्टे से दूसरे को जाते रहते हैं अपना पता तक लिखाने से लाचार हैं आप क्या काम करते हैं काम क्या करता हूँ साहब बेकार ही समझिए बशीर अहमद हल्की सी तल हंसी हंसकर बोला इस हंसी को सुनकर एजाज को दिल में ज़रा सी हैरत हुई बशीर अहमद के चेहरे पे तलखी का शायबा तक ना था वो ऐसे लोगों में से था जिनके जबड़े की मजबूती और आंखों की चमक से हमेशा उम्मीद और इरादे की किरण फूटती मालूम होती थी वो एक म्याने कद का पतला सा आदमी था उसके चेहरे पे सिर्फ उसका धाना ऐसा था जिसकी बनावट से सिंह की झलक मिलती जुलती थी चुनाचे बातें करते करते जब वो अपनी मुख्तसर सी हंसी हंसता तो उसके चेहरे पे तलखी और खलूस के दो तो अनासिर आपस में ऐसे गुत्थम गुत्था होते हुए मिलते थे कि देखने वाला चौंक उठता था वो एक आम चाल ढाल का आदमी था जिसे उसके बातें करने के अंदाज और मखसूस हंसी ने एक मुनफरी शख्सियत अता की थी इरशाद और कनीज़ को आप कितने अरसे से जानते हैं एजाज ने पूछा जवाब देने की बजाय बशीर अहमद इधर उधर देखने लगा जैसे बैठने की किसी जगह का मतलाशी हो आपके पास कुछ फुर्सत है उसने पूछा मुझे कोई ख़ास काम तो नहीं दरोगा वाला में रहता हूँ अगर आप तकलीफ़ ना समझे तो मेरे गरीब खाने पर चलें बैठेंगे कुछ बातें करेंगे एजाज का आधा दिल कहता था इस आदमी से दूर भागे आधा इस शख्स के बारे में मुतजस था कैसे जाएंगे उसने पूछा घंटे घंटे पर बस जाती है आध घंटे का रास्ता है बशीर अहमद कलाई की घड़ी पर नज़र डालकर बोला पाँच मिनट में बस आने वाली है एजाज रुककर सोचता रहा वैसे अगर आपको बशीर अहमद ने कहा नहीं नहीं एजाज जल्दी से बोला चलते हैं बस आई तो दोनों उसमें सवार हो गए आप इस इलाके के रहने वाले हैं एजाज ने पूछा मैं जिस मकान में रहता हूँ उसी में पैदा हुआ था मेरे वालिद साहब की सब्जियों और फलों की दुकान है आप उस कारोबार में नहीं गए नहीं मैं पढ़ाई में पड़ गया बशीर अहमद अपनी मुख्तसर सी मखसूस हंसी हंसा मगर अपने इलाके से बाहर नहीं गया लोकल स्कूल से मैट्रिक किया पहले मुगलपुरा के एक वर्कशॉप में जूनियर क्लर्क रहा फिर अपने घर के पास प्राइमरी स्कूल में पढ़ता रहा वहाँ से छः साल की सर्विस के बाद बर्खास्त कर दिया गया क्यों एजाज ने बेसाख्ता सवाल किया मैंने एक रोज़ गुस्से में आकर कह दिया था कि दो महीने से स्कूल का नलका टूटा हुआ है गर्मियों के दिन हैं बच्चे प्यास से बेहोश हो रहे हैं मटकों का पानी एक घंटे में ख़त्म हो जाता है भरने वाला कोई नहीं दरखास्तें दे देकर थक गए हैं अफसर अपने दफ्तर में बैठे ठंडे शरबत उड़ा रहे हैं अगर दो दिन के अंदर नलका ठीक ना हुआ तो बच्चों को घर भेज दिया जाएगा बस इतनी ही बात थी एजाज हक्का बक्का रह गया क्या ये महज इतफाक था उसने सोचा या कि इसमें कोई खुदाई राज पिन्हा था मुझे इल्म है कि आप भी एक लायक उस्ताद हैं आपको एजुकेशन के अफसरों के करतूतों का पता ही होगा पैसे सरकारी दौरों और लल्लो तलल्लों पर खर्च कर देते हैं फिर कहते हैं फंड ख़त्म हो गए हैं छत टपके दीवारें गिरे कुछ नहीं होता क्योंकि फ़ंड ख़त्म हो गए हैं मगर जब बच्चे गर्मी से प्यासे बैठे रहे तो जनाब ये स्कूल है या करबला का मैदान है आपके स्कूल के हालात ठीक हैं तो ये आपकी खुशकिस्मती है कुछ बस के शोर की वजह से कुछ अपने ख्याल की यूरश से एजाज ने बशीर अहमद की बात सुनना छोड़ दी मैं इसे बताऊं कि मेरे साथ क्या किस्सा हुआ है उसने सोचा उसका जी चाहा कि बशीर से पूछे उसे कैसे बर्खास्त किया गया था क्या इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया गया था मगर एजाज के अंदर जो बंद बंधा हुआ था उसने ज़बान ना खुलने दी अब उसके अंदर धीमा धीमा गुस्सा उठने लगा जो बस की रफ्तार और औरतों और बच्चों की चीखों पुकार के साथ तेज़ होता चला गया बशीर ने तो शायद कोई कसूर किया था एजाज ने सोचा मेरा क्या जुर्म था ये कि मैं एक पुराने दोस्त के पास मिल बैठने को जाया करता था बस की रफ्तार अब कम हो रही थी उसे पता भी ना चला था कि बस कई मिनट से शहर की आबादी में दाखिल हो चुकी थी बशीर कह रहा था मैं वाले साहब की मदद के लिए कुछ ना कुछ कर देता हूँ नमाज़ पढ़ने को मस्जिद में जाते हैं तो दुकान पे खड़ा हो जाता हूँ ताकि कारोबार बंद ना हो मगर इस काम में मेरा जी नहीं लगता वालिद साहब नमाज की तलकिन करते रहते हैं मगर क्या करूँ मेरा एतबार हर चीज़ से उठ गया है बस काम की एक आध बात रह गई है बाकी सब वक्त गुजारी के मामले हैं मुझे तो यही मालूम होता है बशीर अहमद का घर दरमियाने दर्जे के आम पेशावर लोगों की मानन ईंटों का मकान था जिसका दरवाज़ा गली में खुलता था उसका अपना नहाय छोटा सा कमरा जिसमें मुश्किल से पाँच छः आदमी ज़मीन पर बैठ सकते थे बैठक के साथ लगता था उसका एक दरवाज़ा बैठक और दूसरा गली में खुलता था मशीन ने अंदर से जाकर दरवाज़ा खोला फर्श पे पतली सी दरी बिछी हुई थी जिस पे तीन अतराफ दीवारों के साथ तकिए रखे थे ना चारपाई की जगह थी ना कुर्सियों की सिर्फ एक कोने में छोटी सी तपाई पड़ी थी जिस पे दो तीन किताबें थीं दीवारों में दो जगह पर आले बने हुए थे जिसके अंदर बकिया किताबें ऊपर नीचे रखी थीं दीवारों पर चारों तरफ छोटे बड़े पोस्टर लगे थे सब पोस्टर कलम से बनी हुई ड्राइंगों के प्रिंट थे जिनमें इनकलाबी मजदूर लीडर एक हाथ में कोई झंडा पकड़े दूसरा बाजू फातहाना अंदाज में उठाए मार्च करते हुए दिखाए गए थे उनमें से कई एक बड़ी बड़ी मूछों और छोटी छोटी दाढ़ियों वाले खूबसूरत जवान थे सिर्फ एक छोटी सी ड्राइंग थी जिसमें किसी बच्चे ने मुख्तलिफ़ रंगों के चौक इस्तेमाल करके एक कश्ती और मल्ला की तस्वीर बनाई थी पोस्टरों के दरमियान नंगी दीवारों पे उचलती हुई सफ़ेदी और उखड़े हुए पलस्तर के चटाक थे छत पे बिजली का पंखा था जिसके पर गर्द और मक्खी की बिटों से अटे पड़े थे और दरमियान में मकड़ी के जाले लटक रहे थे मालूम होता था एक मुद्दत से ख़राब पड़ा है मौसम गो खुल चुका था मगर चलने फिरने से पसीना निकल आता था बशीर ने दरी से हाथ का पंखा उठाकर एजाज को दिया आप किसी यूनियन से वाबस्ता हैं एजाज ने पूछा बशीर के मुंह से उसकी मुख्तसर हंसी निकली बैठिए वो दरी पे हाथ रखकर बोला तशरीफ़ रखिए एजाज हाथ से अपने आप को पंखा झलता हुआ बैठ गया बैठक का दरवाज़ा खुला और एक ग्यारह बारह साल का बच्चा छोटी सी ट्रे में पानी से भरे दो गिलास लिए दाखिल हुआ ये छोटा भाई आतिफ है बशीर ने कहा बच्चा ट्रे ज़मीन पर रखकर उसी दरवाजे से घर के अंदर चला गया बशीर पानी का गिलास उठाकर गट गट पी गया एजाज ने दो घूंट पानी के पिए और गिलास वापस ट्रे में रख दिया यूनियन वूनियन क्या है मलक साहब बशीर हाथ से मुंह साफ करके बोला बर्खास्तगी के बाद मैंने टीचर्स यूनियन से मदद तलब की वो टाल मटोल करते रहे आखिर मेरा एतबार उठ गया कई महीने तक मैं सोचता रहा कि ऊपर जाऊं, डायरेक्टर को अपील करूं, वज़ीर को दरख्वास्त दूं। फिर एक रोज़ मुझे एक अजीब वाक़ देखने का इतफाक़ हुआ हमारी दुकान के सामने मज़दूर ड्रेन बनाने के लिए खुदाई कर रहे थे उधर से एक तेज़ रफ्तार कार आई उसने एक मज़दूर को कुचल के रख दिया ड्राइवर ने पहले ब्रेक लगाई फिर मामले की संगीनी को देखकर कार को भगा ले चला मजदूरों ने यह देखा तो अपनी कितार के अगले मजदूरों को आवाज़ें दीं रोको रोको वहाँ से एक मजदूर ने छलांग लगाई और कूद कर कार के बोनट पर जा चढ़ा ड्राइवर ने तेज़ी से कार को दाएं और बाएं चक्कर दिए ताकि आदमी बोनट से फिसल कर गिर जाए मगर वो बुढ़ा मजदूर चिमगादड़ की तरह हाथ पांव फैलाकर कार से चिमटा रहा आखिर कोई 200 गज के फासले पर शहर के लोगों ने सड़क के बीच आकर रास्ता बंद कर दिया ड्राइवर गाड़ी रुकने से पहले ही दरवाज़ा कर निकला और भाग खड़ा हुआ उसके ताकुब में दस बारह मजदूर थे चंद कदम पर ही उन्होंने ड्राइवर को जा लिया फिर जो उन्होंने मारना शुरू किया अल्लाह पना लहू लहान कर दिया अगर पुलिस ना आ जाती तो जान से मार कर छोड़ते पुलिस ने ड्राइवर के अलावा चार मज़दूरों को भी गिरफ्तार कर लिया जैसे ही गिरफ्तारियां हुईं सारे के सारे मज़दूरों ने जो कोई पच्चीस तीस होंगे अपनी अपनी रोटी की पोटलियां पगड़ियों के पल्लुओं में बांधकर कंधे पर लटकाईं औजार उठाए और काम छोड़कर सड़क पर आ जमा हुए उन्होंने कहीं से एक चारपाई उठाई और कुचले हुए मजदूर को उस पर डालकर नारे लगाते हुए थाने पहुंच गए रस्ते में उन सब ने मिलकर खाली कार को एक तरफ से उठाया और लुढ़का कर उस गड़े में धकेल दिया जिसे वो खोद रहे थे जब उन्होंने ज़ख्मी मजदूर को उठाने की कोशिश की तो पहरे पर मुकर सिपाही ने उन्हें रोकने की कोशिश की मगर मजदूरों के तैश के सामने खड़े का खड़ा रह गया इसी तरह पुलिस वाले कार के गिर्द भी चौक से निशान लगा गए थे मजदूरों ने उनकी परवाह किए बगैर कार को उल्टा दिया मैं उनके साथ थाने तक गया रस्ते में मैंने देखा जहाँ भी मजदूर काम कर रहे थे मामला सुनकर दो चार साथ चल पड़ते ये ग्रोह लगातार नारे लगाता जा रहा था कातिलों को फांसी दो मजदूरों को छोड़ दो थाने के बाहर मजदूरों का ठट लग गया था बशीर बोलते बोलते चुप हो गया कुछ देर इंतज़ार करने के बाद एजाज ने पूछा फिर खबर नहीं क्या हुआ मैं तो थोड़ी देर रुक कर चला आया मगर ऐसा एका मैंने कभी नहीं देखा हो सकता है मारे ही गए हों मारे गए हों यानी चार्ज हुआ हो या मज़ीद गिरफ़्तारियाँ हुई हों या पैसे दे दिलाकर ड्राइवर को छोड़ दिया गया हो और मज़दूरों को अंदर कर दिया गया हो मगर ये तो होता ही रहता है बात एका की है यूनियन क्या करती है मैं आपको बताता हूँ उस दिन एक दो यूनियन तक बात पहुँच गई वो एक दुकान के टेलीफोन पर बैठकर पूछते रहे कितने आदमी इकट्ठे हुए हैं अब कितने हुए हैं और अब कितने हुए हैं उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक कम अज़ कम सौ आदमी ना हो हम नहीं आएंगे कोई फ़ायदा नहीं जब उनको इत्तला मिली कि सौ से ज़्यादा आदमी जमा हो चुके हैं तो फिर एक दो लीडर साहिबान आए तकरीरें की नारे मरवाए खबरें लगवाईं अंदर जाकर थानेदारों से बात की और मज़दूरों को दिलासे देकर वापस चले गए मज़दूर के खून का किस को पास है बशीर फिर खामोश हो गया एजाज के ख्याल में करने को कोई बात ना आ रही थी बशीर ने दोबारा अपनी बात जारी की उस रोज़ मुझे एक बात का पता चला कि एका में कोई ताकत है या नहीं है मगर ये बात बहुत बड़ी है मलक साहब मैं आपको बताता हूँ दिहाड़ीदार मजदूर सुबह सवेरे खाली जेब घर से निकलता है पीछे घर में थोड़ा बहुत आटा है तो उसकी औरत दो चार रोटियां पकाकर बैठ जाती है नहीं तो इंतज़ार करती रहती है वो दिहाड़ी लेकर आता है तो हांडी चढ़ती है अगर दिहाड़ी नहीं लगती तो डेड़ी वालों से कर्ज पे काम चलता है तो जनाब मलक साहब मज़दूर के लिए दिहाड़ी तोड़ना कोई आसान काम नहीं ये सिर्फ वही जानता है जिसने कल का खाना कमाने के लिए बाहर निकलकर काम करना होता है वरना कल गई चली गई गायब हो गई कैंसिल हो गई परसों में तब्दील हो गई समझ गए आप अब आप पूछेंगे कि फिर एका कैसे हो जाता है तो हजूरे वाला एका इसलिए हो जाता है कि मज़दूर की कल मुकर नहीं होती हो गई हो गई ना हुई तो ना हुई इनकी ज़िंदगी का वतीरा ही ये है वो समझता है कि जिस साथी के सारे दिन ही ख़त्म हो गए हैं उसकी खातिर एक और कल ज़ाया हो गई तो क्या फ़र्क पड़ता है ऐसा एका मैंने बड़े मज़दूरों में नहीं देखा बड़े बड़ों का एका फ़ायदे की खातिर होता है इन लोगों का एका नुकसान की बिना पर कायम होता है यही फ़र्क है एजाज अब मशहूर होकर उसकी बातें सुन रहा था बशीर के चेहरे पे अब तंजिया तलखी का साया तक ना था सिर्फ एक मस्बत जज्बे की झलक थी इस सारे दौरान में उसने एक बार भी अपनी आवाज़ बुलंद ना की थी मगर उसके हमवार लहजे के एक एक लफ्ज़ में गहरा तासुर था जब उसने बोलना बंद किया तो एजाज चौंक उठा गोया एक सह टूट गया हो वो चुप बैठ बशीर के चेहरे को देखता रहा जैसे अपनी खामोशी के ज़रिए कह रहा हो बोलते जाओ कुछ और बताओ मेरे दिल को आराम पहुंचाओ उस दिन मुझे मालूम हुआ बशीर ने कहा कि ऊपर की बजाय मेरा रास्ता नीचे को जाता है नीचे को एजाज कुछ ना समझते हुए बोला अमीरों और वज़ीरों की जानब देखने से मुझे कुछ हासिल ना होगा अगर कुछ होगा तो इन लोगों से होगा यही हमारा मुकाम है आपको पता है कि ये लोग कितने बेइल्म हैं ना मस्जिद में जाते हैं ना रोज़ा नमाज के पाबंद हैं मौलवी की बात उनके ऊपर से गुजर जाती है अल्लाह रसूल इनके लिए ऐसी चीज़ें हैं जैसे सैकड़ों मीलों में से किसी पहाड़ की चोटी नज़र आए जिस पर बर्फ़ जमी हुई होती है मगर इन लोगों का अपना एक ईमान है ये वो ईमान है जो इनको किसी दूसरे के लिए अपना पेट काटने का अहल बनाता है बशीर का गला सूख रहा था अति उसने आवाज़ दी आतिफ आया तो बशीर ने उसे पानी लाने को कहा बच्चा उसका गिलास उठाकर ले गया और पानी से भर लाया बशीर ने गिलास मुंह से लगाकर आधा ख़त्म कर दिया वो गिलास ट्रे में रख कर हाथ से मुंह पहुंच रहा था कि एजाज ने पूछा भट्टे के साथ आपका ताल्लुक कैसे बना हाँ आपने पूछा था कि मैं इन लोगों को कितने अरसे से जानता हूँ असल में ये भी एक इतफाक़ ही है हमारी ज़िंदगियाँ इतफाक की ढप पर ही तो चलती हैं क्यों ये सच नहीं वो हंसा और उसके चेहरे पे उस अजीब हंसी का तासुर फैल गया था इस शख्स के साथ एजाज ने सोचा कोई वाक़ गुज़रा है कोई ऐसी गहरी दिल आज़ारी जिसने अपने आप पे और दुनिया पे इसका ईमान मुतजलजल कर दिया है और एक ने गहनाए हुए जहाँ की झलक दिखाई है एजाज के उड़ान करते हुए तखयल के अंदर बशीर अहमद उसे एक ऐसा आदमी लगा जो मौत की शक्ल देकर वापस आया हो मेरे मामू ने एक गरीब घराने में शादी की है बशीर ने कहना शुरू कर दिया उसके ससुराल वालों में कुछ लोग भट्टा मजदूर हैं उन लोगों से मुझे हालात जानने का मौका मिलता है आपने इन्हें दूसरे मज़दूरों की तरह गरीबी की हालत में मुशक्क़त करते हुए देखा है मगर माफ़ कीजिएगा आपको हकीकत हाल का पता हो तो कपड़े फाड़ने लग जाएं। दिहाड़ीदार की कल अपनी नहीं होती और एक नए गहनाए हुए जहाँ की झलक दिखाई है एजाज के उड़ान करते हुए तखयल के अंदर बशीर अहमद उसे एक ऐसा आदमी लगा जो मौत की शक्ल देकर वापस आया हो मेरे मामू ने गरीब घराने में शादी की है बशीर ने कहना शुरू किया उसके ससुराल वालों में कुछ लोग भट्टा मजदूर हैं उन लोगों से मुझे हालात जानने का मौका मिला आपने इन्हें दूसरे मजदूरों की तरह गरीबी की हालत में मुशक्क़त करते हुए देखा है मगर माफ़ कीजिएगा आपको हकीकत हाल का पता हो तो कपड़े फाड़ने लग जाएं। दिहाड़ीदारों की कल अपनी नहीं होती भट्टा मज़दूरों की ज़िंदगी ही अपनी नहीं होती क्या आपको इल्म है कि आजकल के ज़माने में भी ये लोग ख़रीदे और बेचे जाते हैं नहीं एजाज ने कहा जी हाँ आप पेशगी के लफ्ज़ से वाकिफ़ हैं थोड़ा बहुत इस पेशगी की रकम से इनके सारे कुनबे की ज़िंदगी का सौदा तय पाता है पेशगी की रकम का तयन ही इस बुनियाद पर होता है कि कुनबे में कितने हाथ काम करने वाले हैं ना औरत का सवाल ना बच्चे का पाँच साल से लेकर अस्सी साल की उम्रों तक सिर्फ हाथों की तादाद गिनी जाती है और पेशगी तय पाती है अगर मजदूर एक मालिक से तंग आकर दूसरे भट्टे पर जाना चाहे तो मालिक उसे पेशगी की पर्ची बनाकर दे देता है दूसरा मालिक पहले को पर्ची की रकम अदा करके मजदूर को बमा अहलो अयाल खरीद लेता है मजदूरी का हिसाब ये है जनाब मन के हर हफ्ते मजदूरी आदि मिलती है बकिया आदि पेशगी के खाते में काट ली जाती है अब आपका ख्याल होगा कि कुछ अरसे के बाद पेशगी की रकम अदा हो जाएगी जी नहीं साल के बाद पेशगी दुगनी हो चुकी होती है एजाज को इस सारे सिलसिले का धुंधला सा तस्वुर था मगर तफसीलात का इल्म ना था दुगनी कैसे हो जाती है उसने पूछा दुगनी ना हो तो डेढ़ गुना ज़रूर हो जाती है मकसद मेरा कहने का ये है कि पेशगी बजाय घटने के बढ़ती ही रहती है अनपढ़ लोग हैं जमा तफरी की खबर किसको है इन लोगों ने यह बात तस्लीम कर ली हुई है कि उम्र भर की गुलामी है हिसाब किताब के चक्कर में कौन पड़ता रहेगा ये तो इतवार के इतवार अपनी मजदूरी को तनख्वाह का नाम भी नहीं देते कहते हैं खर्चा लेने जा रहे हैं इस खर्चे से आपको मालूम हो जाना चाहिए कि गुलामी का चक्कर इनके खून में दाखिल कर दिया गया है पेशगी का कर्ज नसल दर नसल चलता है बाप की पेशगी बेटे या बीवी को मुंतकिल होती रहती है जैसे बड़े लोगों की वरासत में जायदाद मुंतकिल होती है मैंने कहा ना कि बड़े लोगों का इतफाक आपस में फ़ायदे की खातिर होता है इन लोगों के इतफाक़ की बुनियाद नुकसान पर उठती है ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है एजाज ने कहा यह कोई आज की बात है जनाब ये मुसलमानों के मज़हब से ईसाइयों के मज़हब से यहूदी के मज़हब से भी पहले की बात है ये देखिए बशीर उठा और तपाई से एक पुरानी सी छोटे साइज़ की जल्द वाली किताब उठा लाया जल्दी जल्दी उसके वर्क उलट पलट करके एक मुकाम पे उंगली रखी ये इंजील है जिसके बाबुल खरूज की ये तहरीर पढ़ी है उसने किताब एजाज के आगे बढ़ाई फिर खुद ही झुककर पढ़ने लगा जब हज़रत मूसा और हारून ने जाकर फ़िरौन से कहा कि खुदावन इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो बेयाबान में मेरे लिए अहद करें तो फ़िरौन ने जो उनसे बेगार लेता था उन मजलूमों पर जुल्म की इंतहा कर दी और उसी दिन फ़िरौन ने बेगार लेने वालों और सरदारों को जो लोगों पर थे हुक्म दिया कि अब आगे को तुम इन लोगों को ईंटें बनाने के लिए भूस ना देना जैसे अब तक देते रहे वो खुद ही जाकर अपने लिए भूस बटोरे और उनसे उतनी ही ईंटें लेना जितनी वो अब तक बनाते आए हैं तुम उसमें से कुछ ना घटाना क्योंकि वो काहिल हो गए हैं इसीलिए चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हमको जाने दो ताकि अपने खुदावन के लिए कुर्बानी करें अब से पाँच अब से पाँच छः हज़ार साल पहले के आसार कदीमा खोद कर निकाले गए हैं क्या वहाँ से ईंटें बरामद नहीं हुई इस इंसाफी की कदामत का हिसाब लगाना मुश्किल है अंग्रेज़ों ने उन्हें कलमा पढ़ाकर दीन में शामिल कर लिया मगर जागीरें नवानों और ममदूनों को ही दी ईसाई पादरी इनसे यही कहते रहे कि जिसका खाओ उसके आगे दम ना मारो बिशप साहब ऐसे ही तो चले नहीं आए थे उनकी नंबरदारी का सवाल था किसी ईसाई मजदूर की मजाल नहीं जो गवाही दे कर्नल जोसेफ को हज़ारों ईंटों का चढ़ावा चढ़ गया बस और क्या चाहिए इरशाद को दो सौ रुपये देकर घर भेज दिया मगर क्या ये रुपए उसकी जेब में गए नहीं साहब उससे कहा गया कि कापी के अंदर ये रकम उसकी पेशगी से मिनहा कर दी जाएगी वो नालायक इसी बात में खुश हो गया अल्लाह अल्लाह खैर सलाह एक औरत कनीज़ मैंने ऐसी देखी है उन लोगों के दरमियान मेरे सारे तजर्बे के अंदर वो अकेली ही देखने में आई है जिसके दिल में आज़ादी का ज़ोर है मैं उसे छः माह से जानता हूँ इस अरसे में उसने जो बात भी की है उस पर कायम रही है वरना दूसरी औरतों के साथ क्या होता है उनका आदमी कहीं भाग भाग जाए तो भट्टे वाले औरत को किसी ज़मींदार के हाथ हज़ार दो हज़ार में बेचकर अपने पैसे पूरे कर लेते हैं कनीज़ ने अगर कहा है कि वो इर्शाद को छोड़ देगी तो वो ऐसा ही करेगी इर्शाद अदालत में ना पहुंच जाएगा एजाज ने कहा इर्शाद का उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं बनता वो उसका खामिन नहीं वाह आप भी क्या भोले बादशाह हैं कनीज़ आज़ाद औरत है उसका आज तक किसी के साथ निकाह नहीं हुआ उसके बच्चे का बाप किसी और भट्टे पर कोई और आदमी होगा उससे पहले कोई और होगा सब चल चला गए उन लोगों की ज़िंदगी इसी तरह गुजरती है कनीज़ को इशाद से कोई डर नहीं अलबत् मालकों से ख़तरा है कि वो उसे उठवा देंगे इसीलिए मैंने एक स्कीम बनाई है एजाज ने रुक कर पूछा क्या स्कीम है मेरे मामू के रिश्तेदार चूनिया के इलाके में भट्टे पर काम करते हैं मेरी स्कीम ये है कि कनीज़ को चोरी छुपे ले जाकर उनके पास छोड़ आऊँ उनके कुछ लोग विहाड़ी में भी हैं एक दफ़ा यहाँ से निकल जाए तो फिर खैर है मालिक इर्शाद से निबटते रहेंगे आपका एजाज ने बेख्याली से पूछा अब भट्टा मजदूरों से ताल्लुक उसने सवाल को हवा में अटका छोड़ दिया तलक वलक क्या होगा साहब इस इलाके में बीस तीस भट्टे हैं लोगों से मिलता रहता हूँ इन लोगों की जिंदगियाँ इस तरह से गिरवी की नज़र हो चुकी हैं कि जिंदगियाँ नहीं रहीं बल्कि एक दस्तूर में तब्दील हो चुकी हैं इनसे कोई मुख्तलिफ बात करो तो समझते हैं आप दस्तूर के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं अपने ढरे पर चलते जाने में आफियत समझते हैं फिर भी कभी सौ में कोई एक बंदा मिल ही जाता है आज तक इनका कोई निज़ाम कायम नहीं हो सका ना ही कोई इनकी जानब निगाह करता है तकरीरें करने वाले लीडर समझते हैं कि ये कीड़े मकोड़ों से भी गए गुजरे लोग हैं उन्हें इन लोगों में अपना कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता ये नबे पचानवे फ़ीसद ईसाई लोग हैं जिनको पादरी कंट्रोल करते हैं और बकिया लोग इनसे फ़ायदा उठाते हैं मैं तो वो हंसा मैं तो अंग्रेज़ी की मिसाल के मुताबिक वन मैन बैंड हूँ सच पूछिए तो मुझे इसका कोई नतीजा निकलता नज़र नहीं आता कुछ देर तक दोनों इधर उधर की छोटी मोटी बातें करते रहे एजाज के दिमाग में एक ही सवाल था अगर इसका कोई नतीजा निकलता नज़र नहीं आता तो क्या बशीर का मकसद सिर्फ खनीज को हासिल करना है एजाज ने हाथ बढ़ाकर रुखसत चाही अच्छा खुदा आपकी मदद करे मैं आपका वक्त लेने की जरूरत नहीं कर सकता बशीर ने कहा आपकी स्कूल की मसरूफियत भी है ज़िम्मेदारी भी है मगर जब कभी आपके पास फुर्सत का लम्हा हो मेरा गरीब खाना खुला है एक लम्हे को इजाज का इरादा लड़खड़ाया उसका जी चाहा कि अपना दिल बशीर के सामने खोलकर उसे बता दे कि वो अब स्कूल मास्टर नहीं रहा आखिरी वक्त में उसने ज़बान रोक ली ज़रूर ज़रूर उसने कहा और जल्दी से हाथ मिलाकर रुखसत हुआ बाहर दिन ख़त्म हो रहा था बस शुजाबाद से होकर जाती थी जब वहाँ पर जाकर रुकी तो एजाज ने उठने के लिए मुतद बार पाँव पे बदन का बोझ डाला और हटा लिया डाला और हटा लिया यहाँ तक कि बस चल पड़ी जूं जूं बस चलती जाती थी एजाज की टांगों की ताकत ज़ायल होती जाती थी जैसे उनकी जान निकलती जा रही हो अगर उस वक्त कोई पूछता कि कहाँ जा रहे हो और क्या करने जा रहे हो तो सरीहन वो इसका कोई जवाब ना दे पाता एक अनदेखी अनजानी कुत थी जिसने उसका रुख मुतन कर रखा था साथ ही दिल के दबीज पर्दों के अंदर उसे इस बात का इल्म भी था कि वो कहाँ जा रहा है बस रुकी तो वो उतर पड़ा ड्राइवर को रुकने के लिए उसी ने कहा था क्योंकि ये बस का स्टॉप ना था देर तक वो सड़क से ज़रा हटकर एक अंधेरे दरख्त के नीचे खड़ा रहा रात पड़ चुकी थी खजां के मौसम का आसमान इस कदर शफाफ था कि चांदनी की धनक से बाहर सितारे अपने हजम से बड़े दिखाई दे रहे थे तीन चार खेर छोड़कर भट्टे की चमनी दिखाई दे रही थी एजाज ने रुक रुक कर कच्ची सड़क पे कदम रखा जो भट्टे को जाती थी सड़क पर लंबे लंबे गहरे निशान थे जो बारिशों के मौसम में भारी गड्ढों के पहियों से बन गए थे और धूप में सूख चुके थे सड़क ख़त्म हुई तो एजाज एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रुक कर मजदूरों के घरोंदों को देखने लगा बेकिवाड़ दरवाज़ों पर टाइलों और फटे पुराने कपड़ों के पर्दे लटक रहे थे बेकिवाड़ दरवाजों पर टाटो और फटे पुराने कपड़ों के पर्दे लटक रहे थे जिनके सुराखों से अंदर जलते हुए तेल के दिए या लालटेने नजर आ रही थीं। इरशाद और कनीज के दरवाजे पर टाट जो दिन में दहलीज पे गिरा पड़ा रहता था दोबारा अपनी जगह पर कीलों की मदद से लटका दिया गया था टाट की हालत ऐसी खस्ता थी कि बमुश्किल तीन चौथाई दरवाजे को ढकता था उसके कटे फटे किनारों से घरौंदे के अंदर एक छोटी सी लालटेन दीवार पे लटकी दिखाई दे रही थी एजाज होले होले कदम रखता हुआ दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ अंदर से हांडी की बू उठ रही थी और बच्चे के बोलने की आवाज़ आ रही थी बीच बीच में कनीज नरम लहजे में हूँ हाँ कर रही थी बर्तनों का हल्का सा खड़ाक था एजाज अपना धक धक करता हुआ दिल संभाले खड़ा था इतने में दो घर छोड़कर एक दरवाजे का पर्दा उठा और दो आदमी घरोंदे से निकले एजाज अपनी जगह से खिसक कर दीवार के साथ लग गया दोनों आदमी तेज तेज कदम उठाते हुए भट्टे की जानिब चले गए थे जैसे उनके दिल में कोई खौफ हो एजाज दीवार से अलग हुआ तो उसका पैर एक टीन के डब्बे से जा टकराया आवाज़ सुनकर कनीज हाथ में लालटेन लिए उठी और टाट का पर्दा उठाकर छांकने लगी एजाज अपना बदन सीधा करके वहां से चल पड़ा यूं जैसे अपने रास्ते पे जा रहा हो कनीज उसे पहचान कर बोल उठी मलक जी खैर से आए हो इधर से गुजर रहा था एजाज लहजे को काबू में रख कर बोला सोचा कि देखता जाऊं मलक रशीद से मुलाकात हो जाए तो बात करूं खुदा तुम्हारा भला करे कनीज बोली वो जल्दी से मुड़ी और घरोंदे के अंदर चली गई वहां उसने वो बचकाना सी लालटेन दोबारा दीवार पर लटका दी लेट जा वो झिड़क कर बच्चे से बोली रू रू रू रू रू मेरी जान के साथ लगा रहता है वहाँ पर सर रख कर सो जा कनीज टाट उठाकर बाहर निकल आई उसके बाहर आने से पहले ही एजाज आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ चल पड़ा था कनीज उसके साथ चाल मिलाकर एक कदम पीछे चलने लगी क्या खा रही हो एजाज ने उसे देखकर पूछा बाजरे की रोटी कनीज ने कहा और रोटी एजाज की जानी बढ़ाई एजाज रोटी से एक टुकड़ा तोड़कर खाने लगा ठेकेदार इस वक्त घर चले जाते हैं कनीज बोली जुम्मेदार इधर रहता है भट्टे के पीछे उसका घर है जुम्मेदार कौन है एजाज ने पूछा अपनी तरह का मजदूर ही होता है जी हाथ पैर का तगड़ा होता है ठेकेदारों के मुंह लग जाता है उसे हमारे ऊपर थानेदार लगा देते हैं अब वो दरख्तों के साय से निकलकर चांदनी में आ गए थे कच्ची सड़क के दोनों तरफ चारे के खेत थे जो आधे पौने काटे जा चुके थे अब मुझे एजाज ने सोचा अपने हाथ से काश्त करनी पड़ेगी उसने मुड़कर कनीस को देखा जिसके नक्श अब चांदनी में निखर आए थे इरशाद कहाँ है एजाज ने पूछा नमरूद सोया हुआ है कनीस के मुंह से ये अल्फाज सुनकर एजाज के बदन में गोया जान पड़ गई उसका एक पट्ठा इस तरफ से फड़कने लगा अब तक वो सीधा कनीस को देखने से गुरेज करता रहा था अचानक वो पलटकर खड़ा हो गया और बेखौफी से कनीस के चेहरे को देखने लगा कनीज़ अपना खुला हुआ सादा चेहरा और बेतकल्लुफ़ बदल लिए खड़ी एजाज की आंखों में आंखें डालकर देखे जा रही थी उसकी आंखों में कोई अजनबियत ना थी जैसे कि वो एजाज के अनकहे पैगाम को पढ़कर कबूल कर रही हो मज़ीद कोई लफ्ज़ बोले बगैर दोनों एक साथ सड़क को छोड़कर चारे के खेत में दाखिल हुए खेत के बीच पहुंचकर एजाज एक मट्टी की बन्नी पर बैठ गया कनीज़ कुछ देर खड़ी खड़ी नीचे बैठे हुए एजाज के सर को देखती रही उसके चेहरे पर नहायत हल्की सी मलाहत हमेज मुस्कुराहट फैलती गई फिर वो आहिस्ता से एजाज के साथ लगकर बैठ गई एजाज ने एक बाजू उठाकर उसके शानों के गिर्द रखा दूसरा हाथ फैलाकर वो कनीज़ के गाल को सहलाने और अंगूठे से उसके होंठों पर फेरने लगा कनीज़ खिसक कर बन्नी से उतरी और चारे के नरम पौधों के अंदर सीधी पुश्त पर लेट गई एजाज ने घुटनों पे अपने जिसम का बोझ संभाला और झुककर दोनों हाथों से कनीज के कंधे को गिरफ्त में ले लिया कुछ देर तक वह इसी तरह झुका कनीज के चेहरे और बदन को महवियत से देखता रहा फिर उसके चेहरे से रगड़ खाते हुए चारे के पत्तों और गीली मट्टी की बू उसकी नाक में चढ़ी जो आहिस्ता आहिस्ता कनीज के पसीने की हल्की बू से मिलजुल गई चारे की फसल का सब्ज रंग चांद की रोशनी में हल्का नीला नजर आ रहा था रात का तवीलो अरीज सकूत सारे जहां पे फैला हुआ था जिसे कभी कभी सड़क से गुजरते हुए तांगे में जुते हुए घोड़ों की टापों या किसी बस के इंजन की आवाज़ आर्जी तौर पर तोड़ देती और फिर खामोशी की चादर खेतों पे छा जाती थी भट्टे की भद्दी सी फैली हुई इमारत किसी आसेब जदा मकबरे की मानिन साकिन खड़ी थी एजाज अलग होकर बैठ गया उसने दोनों हाथ मिलकर मट्टी उतार दी उसने सर झुकाकर देखा चारे के बिस्तर पर कनीज का निखरा हुआ स्याह बेमजाहमा जिसम फैला था उसके किसी उज में हरकत ना थी सिर्फ उसकी आंखें खुली थीं जो पौधों के साय में होने के बावजूद एजाज को नज़र आ रही थीं उसने महसूस किया कि उन आंखों में मुसरत दुख सरूर दर्द या किसी और मानूस जज्बे की झलक तक ना थी सिर्फ एक अमीर खामोशी का अंसर था जो टपका पड़ता था बेजुबानी का एक खासा एजाज ने कनीज की आंखों में देखा दफतन उसके अपने अंदर की मजामत जवाब दे गई थी उसे एहसास हुआ कि जैसे उसके जहन का वो भारी पत्थर रेजा रेजा होकर उसकी आंखों कानों और दूसरे मसामों के रस्ते बह निकला है मैं बर्खास्त हो गया हूँ वो बेसाख्ता बोला हैं कनीज ने लेटे लेटे पूछा स्कूल की नौकरी छूट गई है पढ़ पढ़ा बैठे हो फिक्र क्यों करते हो जी कनीस की बेपरवाह आवाज़ उसके कानों में आई तो यकदम उसकी बिलबिलाहट सर्द पड़ गई फिक्र तो है वो आहिस्ता से बोला शर्मिंदगी की बात है शर्म किस बात की इज्जतदार आदमी हो नौकरी की गुलामी में भी कोई इज्जत है ये बात तो दुरुस्त है मैं तो पहले दिन ही तुम्हारी आंख देकर पहचान गई थी मलक जी क्या पहचान गई थी कि तुम्हारे दिल को कोई फिक्र है कनीज़ ने उठकर अपना लिबास दुरुस्त किया और रुंधे हुए नरम पौधों पर एजाज के बराबर बैठ गई तीन दिन के अंदर पहली बार उस भारी स्याह पत्थर के जानलेवा बार से एजाज का छुटकारा हुआ था उसका दिल और दिमाग दोनों अब बेबार थे जैसे हवा में उड़ता हुआ कोई गुब्बारा हो वो औरत जो उसकी बात के वज़न का अंदाज़ा भी ना कर सकती थी उसके सामने हड़बड़ा कर अपना राज बयान कर देने से एजाज ने गोया अपनी कैद से निजात हासिल कर ली थी निजात के हल्केपन में वो टिकटिकी बांधे कनीस के चेहरे को तके जा रहा था मसाइब का मारा हुआ ये जिसम एजाज ने सोचा जो अब दसवीं या बीसवीं या पचासवीं बार नए सिरे से बेरोजगार हो रहा था जिसने के कमाल बेतनाई से कहा था पढ़ पढ़ा चुके हो फिक्र क्यों करते हो जी जैसे के उसे ना आगे का इल्म हो ना पीछे का उसके लिए एजाज के दिल में एक अनोखी चाहत पैदा हुई एक ऐसी हमसरी का एहसास जिसका बदनों के मिलाप से कोई वास्ता ना था तूने और किस बात की पहचान की थी एजाज ने पहली बार हल्के फुल्के दिल से सवाल किया कनीज एक लहजा उसे तकने के बाद हंस दी तुम्हारी आंख में मर्द की नज़र थी इतनी वारदात गुजरने के बाद भी कनीज की बात सुनकर एजाज झिप गया वो कैसे तुम मुझे देखते जाते थे और आंख नहीं झपकते थे तो तू उस वक्त वावेला कर रही थी इससे क्या होता है वो बोली औरत दूर से ही एक ही नज़र में मर्द को पहचान जाती है दोनों उठ खड़े हुए एजाज ने हाथों से झटक कर अपने कपड़े झाड़े वो खेत से निकलकर सड़क पर आ गए बशीर ने तेरे साथ क्या बात की है एजाज ने पूछा कहता है दूसरे शहर में भट्टे वाले उसके वाकिफकार हैं उधर काम पर लगवा देगा इससे तेरा क्या फ़ायदा होगा गुलामी से जान छुटेगी ना पेशगी की गुलामी ना मर्द की मजदूरी करूँगी और अपना खर्चा खुद उठाऊंगी क्यों ठीक नहीं है मलिक जी एजाज ने कुछ देर तक रुककर जवाब दिया ठीक है अच्छा फिर उसने कहा अब चलता हूँ तुम्हारी बड़ी मेहरबानी जी कनीज़ ने उससे कहा तुम्हारी बड़ी मेहरबानी खुदा तुम्हारा भला करे एजाज उसे अपने घरौंदे की जानब जाते हुए देखता रहा वो इस आज़ादी से चलती हुई जा रही थी जैसे उसे एजाज से बशीर से ठेकेदार से या दुनिया की किसी और शय से किसी उम्मीद की तवक्का ना हो एजाज के दिमाग में शाम का मंजर और फिर कनीज़ के अल्फाज तुम्हारी बड़ी मेहरबानी जी खुदा तुम्हारा भला करे घूम रहे थे अचानक उसके जहन में एक बात बिजली की माने कौन गई कि इस सारी कार्रवाई का कनीज़ के साथ किसी किस्म का कोई सरोकार ना था कि ये सारा धंधा महज एजाज के अपने कारोबार और बेरोज़गारी के चक्कर का था जिससे उसने कनीज़ के सहारे से फरागत हासिल की थी उस वक्त एजाज को पहली बार अपने आप से निकलकर दुनिया के बेरोज़गारों की बेहरमती का एहसास हुआ दिल में एक अता उदासी लिए वो घर की जानब चल पड़ा रात भीग चली थी जब एजाज घर में दाखिल हुआ नौजायदा जोड़े के अलावा सब जाग रहे थे सकीना बच्चों की चारपाई पर पाइंती की जानब सर हाथ पे उठाए पहलू के बल लेटी थी उसकी कमर और कूलों के खम दो रोज़ के अंदर ही वाजे होने शुरू हो गए थे बराबर की चारपाई पर दाई उसी अंदाज से लेटी आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रही थी सहन में सरफराज मासी के साथ चारपाई पर लेटा आसमान को तक रहा था मासी बाहर से अपनी बेटी और दाई की गुफ्तगु में शामिल थी एजाज को देखकर सरफराज उठ बैठा अंदर दाई भी चारपाई पर उठकर बैठ गई सकीना ने पहलू पे लेटे लेटे बदन को इधर उधर खिसकाकर अपनी नशिस्त दुरुस्त की और मुंह का रुख एजाज की जाने मोड़ दिया घर में कदम रखते ही एजाज की हिस्स ने उसे बता दिया कि उसका राज अफशा हो गया है वो जाकर सकीना के पाँव के पास चारपाई के कोने पर बैठ गया